मन से साधक घबराता है जिस मन की साधक प्रायः शिकायत किया करता है यह मन उसके लिए कितना उपयोगी भी है शायद वह नहीं जानता वह मन को कहीं दूर फेंक देना चाहता है उसका यह प्रयास उसी प्रकार असफल रहता है जैसे कोई जल से लहर को अलग करना चाहे और उसे बारंबार जोर जोर से हिलाता रहे जबकि सच्चाई यह है कि पात्र को कुछ समय के लिए बिना हिलाए रखा रहने दें तो लहर स्वयं जल में विलीन हो जाएगी और रह जाएगा केवल जल शांत जल इसी प्रकार आप यदि मन से कुछ न करेंगे तो मन उपरत हो जाएगा और उस मन में आपका दर्शन आपको स्वयं होगा आत्मदर्शन की प्रक्रिया को समझने के लिए आइए श्रवण करें श्री गुरुदेव भगवान की वेद सम्मत वाणी विषय चित्त का दर्शन ही ज्ञान में बाधा है या अनात्म दर्शन है निर्विषय चित्त का दर्शन ही आत्मदर्शन है अन्य की ओर मुड़े हुए शीशे का दर्शन ही अन्य का दर्शन है सम्मुख हुए शीशे का दर्शन ही मुख दर्शन है इसके अतिरिक्त मुंह किसी की सामर्थ्य नहीं है जो देख ले मुख का दर्शन किसी भी तरह से संभव नहीं है किसी भी तरह से यदि उसको दर्शन कह सकते हैं तो सिर्फ सम्मुख हुए शीशे के दर्शन को ही मुख दर्शन कहते हैं यद्यपि वह भी मुख नहीं है पर उसके अलावा मुख का दर्शन फिर और हो ही नहीं सकता जो भी लोग आत्मदर्शन कहते हैं शांत और निर्विकल्प निर्विषय चित्त को जब हम जानते हैं उसी जानने को हम कहते हैं हमें आत्मा का साक्षात्कार हो गया जब चित्त सविषय रहता है अर्थात चित्त जब किसी अन्य को भी ग्रहण करता रहता है जैसे देह को जब मन देह का ग्रहण करता है तो साक्षी अपने मन द्वारा देह का दर्शन कर रहा है अपना नहीं कर रहा पर जब चित्त में ना शरीर हो ना अपने चित्त में संसार हो तो उस खाली चित्त में जो दर्शन होगा मुझे अपनी ही छाया का दर्शन होगा उस अपनी छाया के दर्शन का ही नाम है आत्मदर्शन जो लोग बुढ़ापे तक अभी आत्मदर्शन की तलाश में हैं, उनके लिए ये है परंतु इतनी बुद्धि चाहिए कि ये आत्मदर्शन होते हुए भी जिस तरह दर्शन किया है इस तरह सदा उपस्थिति नहीं रहेगी बस फिर कौन रहेगा दर्शक रहेगा दर्शन नहीं दृष्टा रहेगा दृश्य नहीं दिखाई पड़ा मुख्य तो नहीं रहेगा पर दिखाई पड़े मुख्य द्वारा जिसको हमने देखा है दिखाई पड़ने वाला मुख तो नहीं रहेगा पर दिखाई पड़ने वाले मुख के द्वारा जिस मुंह का हमने अनुमान कर लिया दर्शन कर लिया स्वीकार कर लिया वो मुख सदा रहेगा तो निर्विषय चित्त में अर्थात समाधि में जो मैंने अपने विषय में जाना कि मैं तो शांत हूँ निर्विकल्प हूँ मैं तो ऐसा हूँ निराकार हूँ ये जो मुझे अनुभव हुआ शांत मन में निर्विकल्प मन में तो दर्शन तो हो गया अब दर्शन के अनुसार मैंने निर्णय कर लिया कि मैं सदा ही ऐसा रहता हूँ पर जिस रूप में मैं देख रहा हूँ इस समय समाधि में ऐसा ही मन हमेशा नहीं रहेगा मन अन्य काम में जाएगा मान लो जिस समय मैंने आत्मदर्शन किया उस समय मेरे मन में संसार नहीं था तो अन्य का दर्शन और आत्मदर्शन अर्थात एक समय मेरे मन में संसार है देह है तो मैं मैंने साक्षी आत्मा विशुद्ध आत्मा अपने मन के आभास द्वारा देह को देखता है अभी आभास को भी नहीं देखता और एक समय साक्षी केवल आभास को देखता है जब साक्षी केवल आभास को देखता है आभास के द्वारा किसी को नहीं देखता तो आत्मदर्शन ही होता है जब हम अपने मुख द्वारा अपने मुख को ही देखते हैं तो उसको हम आत्मदर्शन या मुख दर्शन कहते हैं जब शीशा लगा हुआ ही है और उसी शीशे से हम भीड़ देखते हैं तो अनात्म दर्शन कहलाता है तो दोनों तरह का मन हमें रखना ही पड़ेगा जीवन भर ये नहीं है कि हम शीशे को सामने किए अपना मुख ही दिन भर देखते रहेंगे ये जो हमें आंखें मिली हैं जो शीशा मिला है औरों के देखने के भी काम का है तो जो मन और इंद्रियां हैं ये जगत दर्शन के लिए भी हैं और यह मन हमें आत्मदर्शन के लिए भी है तो जब अन्य का दर्शन करना हो तो मन को इंद्रियों से जुड़ जाना चाहिए और जब अन्य का दर्शन न करना हो तो मन को अन्य इंद्रियों का त्याग करके अपने मन में अपना ही दर्शन करना चाहिए न तो सदा समाधि रखनी है और न सदा संसार में रहना है जिनकी समाधि नहीं भी लगती वह लोग भी नींद में संसार को छोड़ जाते हैं और जो बड़े ज्ञानी योगी पुरुष हैं उनका मन भी निर्विषय से विषय में आ जाता है विषय का अर्थ तो बुरा नहीं होता विषय शब्द केवल इसलिए बदनाम हो गया क्योंकि विषयी चित्त में आत्मा का दर्शन नहीं होता सविषय चित्त में आत्मा का दर्शन न होने के कारण विषय को संतों ने बुरा कहा तब से हम चिढ़ने लगे जबकि विषय नहीं होगा तो व्यवहार एक दिन भी नहीं चल सकता इसी तरह से जैसे नींद नींद सबसे ज्यादा निंदित है विशेष करके धार्मिक जगहों पर इसीलिए सभा में यदि कोई ऊंगता हो और आप पूछो कि तुम सो रहे थे कहते नहीं बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र भी हुए युधिष्ठिर भी बैठे हो तो यहाँ झूठ बोल जाएंगे क्या पाप कर रहे थे कह देते यहाँ ऊँग आ गई थी मैं समझता हूँ किसी संत को ऊँग रहा हो तुम ऐसे कर दो तो कभी ऐसे ऐसे तान के कहेगा कि मैं ऊँग रहा था क्या माने इतनी नींद बुरी चीज हो गई कि तुम नींद के लिए झूठ बोल गए क्यों क्योंकि निद्रा का विरोध सब तरफ से हो रहा है जबकि उस नींद का अर्थ कोई और है अरे तुम देशवासी हो सोए हुए हो दुकान करते हो धंधा करते हो फिर भी सोए सोए का अर्थ क्या है तुम सोए हुए हो तुम्हें पता है तुम्हारे लड़कों का क्या करते हैं तुम सोए हुए हो जगत देख रहे हो को फिर भी सोए हुए हो अर्थात सोने पर चारों तरफ से वार हुई इसलिए सोना बदनाम हो गया तो व्यवहार में भी किसी को नींद आ जाए तो इतना डरता है बताने में और मैं अपने अनुभव स्वयं बताता हूं अब तो मैं चौंकता नहीं हूं पहले मैं सो जाऊं कोई भगत आ जाए आवाज हो तो एकदम चौंक जाता था कि लोग क्या कहेंगे सो रहे हैं जबकि सोना केवल आत्मिक अर्थ में ही बुरा है और जागना इतने ही अर्थ में ज्यादा महत्व का है कि अपने लिए जग गए बाकी जगना और सोना तो यंत्रवत चलता है इसको कैसे रोकेंगे इसी तरह से विषय में मन का जाना यह तो यंत्रवत है कोई अपने मन को दृश्य में जाने से रोक लेगा है कोई माई का लाल तो ऐसी ज्यादा बातें बढ़ा के आदमी के दिमाग को खराब किया गया कि मन जाना नहीं चाहिए विषय में नहीं जाना चाहिए तो जाएगा कहा सारा दिन जाएगा तो कहा जाएगा ये सारा विषय तो है जहां जहां जाता है हाँ कुछ देर निर्विषय हो जाना चाहिए क्योंकि निर्विषय हुए बिना आत्मदर्शन नहीं होता अब जो लोग विषय में रहे और नींद में चले गए विषय में रहे और नींद में चले गए तो जब विषय में रहे तब आत्मदर्शन ना हुआ जब नींद में चले गए तब आगे दर्शन ही नहीं है तो आत्मदर्शन क्या हो या तो शीशा तिरछा रहा या शीशा बिल्कुल उल्टा होगा जरा ध्यान देंगे तो तिरछे शीशे से जगत दिखेगा उल्टे शीशे से कुछ भी ना दिखेगा ना मुंह दिखेगा और ना बल्कि यहाँ तो चलो आंखों से भी जगत दिख जाता है कुछ ना दिखता होगा जैसे पिछला भाग पहले दिखेगा तो ये जगत तो हमको मन से दिखता है और जब मन जगत से उपराम होता है तो आत्मदर्शन के लिए नहीं उपराम हुआ आप जब बिस्तरे में गए जब जगत से हटे तो आत्मा में जाने के लिए नहीं आत्मदर्शन के लिए नहीं नींद के लिए इसलिए दो बाधाएं जगत भी बाधा बन गया आत्मदर्शन में और नींद भी बाधा बन गई दो के सिवा तीसरी हालत हमको मालूम नहीं ये जो तीसरी हालत है जब मन में कोई जगत ना हो शीशा कितनी देर दुनिया की तरफ न होकर तुम्हारी तरफ हो तो तुम देख पाओगे अपने को दो घंटे एक घंटे बस जिस सेकंड में शीशा तो आप केवल सेकंड को ही करते हो झूठ नहीं बोलना केवल सेकंड को करते हो कितनी देर जितनी देर में फेस को ठीक ठीक चेक चेक ना कर ले बस इतनी देर ठीक है यदि उससे कम होगा ऐसे किया ऐसे कर लिया तो हम ठीक से देख नहीं पाए कि कहा क्या लगा है जरा नहीं समझ में तो ठीक से देखने भर के लिए चित्त का निर्विषय होना बस कम होगा तो संतोष ना होगा कम देर की चित्त की शांतावस्था से आपको संतुष्टि ना होगी और यदि इतनी देर के बाद भी संतुष्टि नहीं होती तो फिर बेवकूफ हो ये भी मैं बता दू तो क्या शीशा लिए फिरोगे तो लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी अब मुंह देख लिया शीशा हटा दिया तो मुंह बिगड़ गया क्या जब देख चुके तो शीशा जेब में डाल लो फिर देख लेना जब जरूरत पड़े कि देखते ही रहोगे दिन भर दफ्तर में भी बाथरूम में तो देख लो चलो कोई बात नहीं वो आपका अलग कमरा है खूब देख लो लेकिन यदि भीड़ में भी ऐसे ही ऐसे करोगे तो लोग कहेंगे ये जानवर कहाँ कहाँ गए तो समाधि सदा बनाए रखने वाली बात नहीं है समाधि तो आत्मदर्शन का एक अवसर है बस फिर शीशे को जेब में डाल लो और काम के लिए इस्तेमाल करो कोई मुख देखते ही रहने के लिए नहीं है मंदिरों में बहुत सारे शीशे लगे होते हैं जहां बहुत नजर आता है अब बहुत जहां नजर आते हैं तो कई बार अपना देखना लोग भूल जाते हैं और यदि खुद नजर ना आए तो सीसा भ्रम पैदा कर देता है यदि हमको ऐसे कमरा हो शीशा लगा हो और तिरछी आंख से इधर के बजाय इधर भी एक बड़ा कमरा नजर आ रहा है और ऐसा हमें हुआ बंबई में हम थे तो जिनके घर गए उनके चार कमरे का फ्लैट था और हम अपने गुरुदेव के साथ 22 महात्मा पहुंचे तो दो कमरे उन्होंने हम लोगों को दे दिए जब ठहरने की बात आई तो एक महात्मा हमसे पहले बंबई जाया करते थे उन्होंने कहा ये बंबई है जरा ठीक से रहना अब बंबई जैसे नगरों में साधु को रहना तो आता नहीं तो उन्होंने बड़ा हम लोगों को कहा पर तब बहुत और हंसी हुई जब ठहरने की बात आई तो कहने लगे स्वामी जी वहां ठहर जाएंगे और कुछ संत इसमें कुछ इस कमरे में ठहर जाएंगे जो केवल शीशे से दिख रहा था शीशे के कारण कमरा एक और नजर आवे अब दूसरा कमरा नहीं है ये तब दिखेगा यदि मैं भी वहां नजर आ जाऊं नहीं तो लगेगा कमरा ये पर जब मैं भी उधर नजर आऊंगा तो लगेगा भ्रम है क्योंकि मैं वहां हूं नहीं मैं तो यहाँ खड़ा हूँ इसलिए वो कमरा जो है वो भ्रांति है तो दिखने से भ्रांतियां भी बन जाती हैं पर यदि मैं भी दो नजर आऊंगा तो फिर लगेगा दो तो मैं हो नहीं सकता फिर एक मैं भ्रांति होगी एक मैं यथार्थ होगा तो भ्रांतियों के निकालने के लिए बुद्धि की बड़ी जरूरत है सूझबूझ केवल दर्शन नहीं जो विवेकशील लोग नहीं है वो समाधि लगा के भी भ्रम से मुक्त नहीं होते क्योंकि देह से तो भिन्नता मालूम पड़ने लगती है पर जब आप ध्यान में बैठे हैं तो वो जो आभाषण से जागना इस जागने में अर्थात निर्विषय चित्त निर्विषय चित्त का दर्शन करेंगे तो लगेगा बहुत अच्छा उससे ज्यादा सुख की निर्भय स्थिति शांत स्थिति कोई हो नहीं सकती सबसे ऊंची अवस्था समाधि सबसे ऊंची अवस्था मन की निर्विषय अवस्था जहाँ मन के सामने कुछ भी नहीं है सिर्फ मन है और सिर्फ मन का दर्शन मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ मन में और यहाँ तक ख्याल का भी कोई नहीं है नहीं तो मेरे मन में ख्याल का भी जगत बना रहता है ख्याल की स्त्री ख्याल की दुनिया तो ख्याल का भी होगा तो भी निर्विषय नहीं हुआ तो ना तो प्रत्यक्ष जगत ना ख्याल का जगत वो दुनिया के ख्याल से मुक्त जब चित्त होगा तो शुद्ध चित्त है सभी संस्कारों से शून्य चित्त है उस शुद्ध चित्त में कौन दिखेगा मैं मैं शांत हूँ मैं निर्विकार हूँ मैं मुक्त हूँ मेरे में कोई चिंता नहीं है जितनी देर गरीबी का ख्याल नहीं आए उतनी देर आपका मन गरीबी के दुख को देगा तो गरीबी तो नहीं हटी गरीबी का ख्याल नहीं है ठीक है ना तो जितनी देर दुनिया का ख्याल भी मेरे मन में न होगा वो मेरा मन इतना शुद्ध है कि उस मन में जैसा मैं हूँ वैसे ही चमकूंगा इसलिए उस शांत निर्विकार चित्त का दर्शन ही आत्मदर्शन है अब मूर्खता क्या होगी यदि उस दर्शन को मैं ही हूं मान लोगे दर्शन तो उसी के द्वारा होगा पर वही मैं नहीं हूं मुझे अपनी पहचान उसी से होगी और अपने मुंह के पहचानने का कोई रास्ता इसलिए वेद का एक मंत्र बहुत बढ़िया है और इस मंत्र का परस्पर विरोध भी है दोनों मंत्र में बोले देता हूं आधा आधा एक मंत्र है यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म विद्धि नेदम यदि उपासते जब केवल मुख दिखाई दे रहा हो उस समय कहते हैं यन मनसा न मनुते जो शीशे में दिखाई नहीं देता जो मन से मालूम नहीं पड़ता यन मनसा न मनुते मन से मालूम नहीं पड़ता कौन आत्मा बल्कि मन ही मालूम पड़ता है आत्मा से मन ही का ज्ञान हाँ, मन का भी ज्ञान आत्मा से होता है मन से आत्मा का ज्ञान मुख से ही शीशा दिखता है शीशे से कभी मुख ये तो खंडन है ये हो गया खंडन मन से कभी दर्शन आत्मा का और अंत में कहेंगे आत्मा का दर्शन होता ही नहीं ये भी वाक्य है एनेदम सर्वम बीजानाति तम केन बीजानियात जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है उसको किसके द्वारा जानोगे जिन आंखों से देखते हो इन आंखों को भी देख लोगे क्या नहीं देख सकते तो ये खंडन पक्ष हो गया वेद का मंत्र है तो आत्मा का ज्ञान न मन से होगा न बिना मन के होगा क्योंकि बिना मन के होगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा मुख तो होगा पर दर्शन आत्मा तो होगी बिना मन की पर आत्मा का दर्शन और मन जब होगा तो मन से होगा क्या दर्शन कहें मन से भी दर्शन नहीं होगा तो फिर लगे काहे कौन ठीक है दो बातें हो गई अब तीसरी बात और कहता हूं वेद कहता है मन सैवानुद्रष्टव्यम मन से ही आत्मा जानी जाती है मन से ही आत्मा का दर्शन होता है नेह नाना किंचन नाना कोई साधन नहीं है न ही नाना अस्ति इस लोक में इस स्थिति में नाना साधन नहीं है नेह नाना किंचन कई लोग यहाँ आत्मा की अद्वितीयता में दिखाते हैं ये अर्थ जोड़ देते हैं कि नाना सत्य नहीं है पर वहां साधन अर्थ में है कि मनसई वानु द्रष्टव्यम मन से ही देखा जाएगा न ई नाना अस्थि किंचन यहाँ किंचित मात्र और कोई साधन मन के अलावा मन के अलावा आत्मा के जानने का कोई साधन नहीं नहीं तो पेड़ में आत्मा का दर्शन हो जाता पत्थर में हो जाता सुषुप्ति में हो जाता इसलिए मन नहीं होगा तो आत्मा को आप जान ही नहीं सकते समझ आ रहा है जो मन को मिटाने में लगे हो रख लो मन के होने पर ही आत्मा का दर्शन होगा और मन से आत्मा का दर्शन नहीं होता तो ना तो शीशे से आत्मा मुंह दिखता है बल्कि शीशा को भी मुख ही देखता है और बिना शीशे के अर्थात शीशा या शीशा जैसी कोई चीज चमकने वाली थाली मेरा इससे कोई विरोध नहीं कि तुम कल आके मेरे से बहस करो कई बार बहस करने वाले शब्द पकड़ते हैं अभिप्राय नहीं पकड़ते जैसे कल पूरी जी के पीछे पड़े थे तो मैं इतना खोपड़ी नहीं चटवाता इसलिए पहले क्लियर कर देता हूँ नहीं तो पीछे आते समझ आपने क्या कह दिया तुम मेरे से क्या पूछने आओगे मैं तुम्हारी बुद्धि का दिवाला पहले पीटता हूँ पीटते वो भी है पूरी जी भी तुम्हारी बुद्धि का दिवाले पीटते हैं पर तुम्हें लगता है जैसे ये छिपा रहे हैं इनको आता नहीं है इसलिए वहां का वहां ले गए पर वो तुम्हें चक्कर लगवाते हैं कि जरा इनको और लगे हैं हाँ, मैं ये पूछूंगा तभी इनके बाप उत्तर नहीं दे पाएंगे कहीं ना कहीं आदमी तैयार बैठा है वार करने को तो मैं कह रहा था कि मन से भी आत्मा का दर्शन और मन से ही आत्मा का दर्शन और ये बिल्कुल सच बात है मन से ही अर्थात शीशे से ही मुंह दिखता है और शीशे से भी मुख ये बात सच है कि नहीं बस तो वेदांत तो समझ गए गहरी बात है जो मुख से दिखने पर ये कह देंगे कि मुख ही देखा है तो फिर कहेंगे मुख तो रहा नहीं वो तो खो गए वो तो बदल गया वो तो हिल गया तो जो जो दिखने वाले हिस्से को मैं मान लेंगे तो समाधि लगा के भी उलझन में पड़ जाएंगे निर्विषय चित्त होने पर भी जो अनुभव होगा यदि उस अनुभव को पकड़े रहना चाहोगे कि मेरा आत्मा का दर्शन ऐसे ही बना रहे तो झंझट में पड़ गए इसलिए ऋषि ने खंडन किया कि जो मन से दिखता है ये आत्मा और मन में जो दिखता है वो भी आत्मा फिर मन का साक्षी आत्मा है को देव यो मन साक्षी ईश्वर कौन है ब्रह्म कौन है परमात्मा कौन है जो मन का साक्षी है मन का साक्ष्य नहीं या साक्षी का भी साक्ष्य नहीं पर साक्षी ही जब साक्ष्य और साक्ष्य और साक्षी जब दोनों खुद ही है मुख ही दिखता है अमुख ही देखता है बस इसी का नाम आत्मदर्शन आत्मन ने आत्मन तुष्ट या आत्मा से आत्मा को जानो मुख से मुख को देखो यही ना मुख से ही देखो पर क्या मुख बस यही है मुख दर्शन मुख ही देख रहा अब मुख ही को देख रहे हैं तो क्या दो मुख हो गए कहें दो बिना हुए तो देख ही नहीं सकते बुद्धू बिना दो हुए मुख का दर्शन कल बेटी ने पूछा था कि फिर दिखता क्यों है दिखेगा नहीं तो फिर संतोष कैसे होगा मुख दिखता नहीं और मुख ना दिखे तो फिर शीशा काहे को आप मुंह देखना चाहते हो कि नहीं झूठ नहीं बोलना मत सबसे नंबर तो तुम्हारे ही आगे गए मुंह देखने वालों मुझे मालूम है इसीलिए एक दिन किसी ने कहा ये मक्खा है कि मक्खी पूछा कहने लगे यदि शीशे में बैठी हो तो मक्खी अखबार में बैठा हो तो मक्खा ये मक्खे अखबार में ज्यादा बैठते हैं मक्खी बात समझ में आ गया तो अभिप्राय है कि मुख देखना चाहते हो जब दिखते ही नहीं तो देख काय को रहे हो तुमको दिखता है मुख क्या मुख्य रूप से सीधा मुंह दिखा है किसी को यदि शुद्ध चित्त हो तो मुंह दिख जाता है बोलो कहाँ दिख जाएगा मुंह दिखेगी तो चाहे पर यही चित्त शुद्ध है कि इसके बहाने आप पहचान गए चिड़िया का चित्त शुद्ध है जबकि पापी बिल्कुल नहीं है पर चिड़िया को अपना दर्शन क्योंकि वो समझ नहीं है बिना समझ के पापड़ बेल के भी किसी का चित्त शुद्ध लोग चित्त शुद्ध करने में लगे पड़े वर्षों हो गया और रहे मूर्ख के मूर्ख महामूर्ख तपस्या कर रहे हैं व्रत कर रहे हैं फलाना कर रहे हैं चित्त शुद्ध कर रहे हैं तभी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा तपो यज्ञ दाना भी शुद्ध बुद्धि विरक्तो नपादे पदे तुच्छ बुद्धिया परित्यज सर्वम यद आपनोति तत्व परम ब्रह्म नित्यम तदेवाहम जिसको चित्त एकाग्र करके शीशा साफ करके जिस मुख का दर्शन लोग करते हैं शंकराचार्य ने कहा शीशा लाएंगे मेहनत करेंगे फिर मुंह का तो कहते हैं जो लोग मुंह का दर्शन करते हैं कहते हैं, मैं तो दर्शन थोड़ी करता हूँ मैं तो मुख ही हूँ मैं तो मुख हूँ मुझे दिखा थोड़ी मुख तो मैं तो दिख गया अब क्या निश्चय करो मुझे मुख दिखा नहीं पर इतना मैं देख चुका हूँ कि अब देखने की जरूरत बस और मैं बता दू दुनिया में एक भी आदमी ले आओ जो इतना क्लियर कर दे मैं उसका चेला बन जाऊंगा खेल नहीं है इस वेदांत को क्लियर करना और इतने में भी ना समझो तो तुम्हारे जैसा मूर्ख भी कोई नहीं है आत्मा का अपरोक्ष अनुभव शुद्ध चित्त का मतलब समझदार चित्त विवेकी चित्त सूझबूझ वाला चित्त समाधि आनंद दे देगी समाधि की बड़ी कीमत है पर जो सौ चंदा उगवे एक दो नहीं जो सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चांदन होंदिया बिन गुरु घोर अंधार बिन गुरु घोर अंधार बिना गुरु समझ न आवई बिन गुरु समझ बिन गुरु सूरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावई ये मोहर है गुरुओं की तो जिन लोगों ने कहा था ये शिविर आखिरी हो मैंने अपनी तरफ से तो आखिरी कर दिया भगवान कृष्ण ने तो पहले अध्याय में गीता पूरी कर दी थी जिसका नाम है स्थित प्रज्ञ दर्शन भगवान कृष्ण ने गीता पहले ही पूरी कर दी थी तीसरा अध्याय अर्जुन की मूर्खता से चला अठारह अध्याय मूर्खता से हुए भगवान को इस सत्य के व्यक्त करने में इतने अध्याय की जरूरत नहीं थी तो आगे जो शिविर चलेगा अगले दिन भी और अगले साल का भी तो मूर्खों के लिए चलेगा जितनी देर तक तुम्हारी मूर्खता नहीं जाती उतने दिन तक हमारा शिविर चलता रहेगा बाकी के लिए हमारी तरफ से छुट्टी अपना बुरिया बिस्तरा उठाकर जा सकते हो पर यदि समझ में कसर है और फिर लौट के आए कि महाराज एक बात फिर रह गई तो मैं कहूंगा फिर पहले बिस्तर क्यों उठाया था लगातार अध्याय चलने दो गीता बंद तभी होनी चाहिए जब अर्जुन कह दे मैं संतुष्ट हो गया ये नहीं कि तुम चले जाओ फिर कल लौट के पीछे पूछे एक बात फिर रह गई कई ऐसे चिपकते हैं मेरे साथ कि यहाँ से लगते हैं फिर मैं जहां जाता जाता एक बात और एक बात और एक बात और अर्जुन के बाप यही है इतने प्रश्न समझना चाहते नहीं प्रश्न बहुत है तो जब आप ध्यान में बैठा करो मैं और भी सिखाऊंगा क्योंकि जो समझ गए अब आप कहोगे आखिरी बात बता दो आखिरी तो मैं बता के फिर का खादा शुरू करता हूँ क्योंकि यदि समझ जाते तो फिर आगे बात ही ना करते बात करते हो तो फिर मैं शुरू में आ जाता हूँ क्योंकि ये अभी इनके पल्ले उपनिषद में तत्व मसीह महावाद के नौ बार बोला गया नौ बार एक वाक्य को बोला तत्वमसी नौ बार की क्या जरूरत थी समझाते गए समझाते गए समझाते गए तो तुम ही आत्मा हो तुम ही दिखते हो समाधि में और तुम ही कभी देखे नहीं जाते हो इसी राज को साक्षी करके कितने दिनों से खोल रहा हूँ कि तुम ही साक्षी हो तो मैं कितने बार कह रहा हूँ कहोगे दोबारा क्यों कहा इसलिए कि तुम्हारी बुद्धि उस दिन नहीं पकड़ पाई इसलिए दूसरे दिन उसी विषय को फिर क्लियर किया यदि दूसरे दिन भी नहीं क्लियर हुआ तो तीसरे दिन फिर क्लियर यदि नौ दिन में मैं क्लियर करूं या सात दिन में तो मैंने सात दिन नहीं लगाए आपको सात दिन लगे नहीं समझ में आई बात सात दिन तुम्हारे कारण लगे हैं कृष्ण के कारण अठारह अध्याय नहीं बने अठारह अध्याय अर्जुन के कारण बने और तुम मूर्ख होते ना तो छत्तीस अध्याय बनते इसीलिए जब वो लोग कहते हैं सात सात लोक हैं और कोई कहता है चौदह है मैंने कहा जितना ही समाज मूर्ख होगा उतने लोग बढ़ जाएंगे लोक गुरुओं के पैदा किए नहीं है लोक मूर्खों की मूर्खता के कारण बने हैं मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि कम से कम तुम धैर्य से सुन रहे हो बस इतने तुम मजबूत हो कपड़ा कुटाई से भागे ना तो साफ हो ही जाएगा जिस कपड़े को पटकने में भी आनंद आता हो समझो ये साफ हो ही जाएगा क्योंकि मैंने पटकने में कसर नहीं छोड़ी और जो किसी संप्रदाय में फंसा होगा उसे चोट भी लगती होगी दुनिया में इस अध्यात्म ब्रह्म विद्या के सिवा मुक्त करने वाले सभी संप्रदाय पाखंड के सिवा कुछ नहीं है